जिस दिन लोग पुकारने वाले के पीछे चलेंगे जिसमें कोई कजी न होगी और अल्लाह रहमान के सामने तमाम आवाज़ें पस्त हो जाएंगी सिवाय खुसर पुसर के तुझे कुछ भी सुनाई न देगा